चुनाचे आप उन्हें देखते हैं कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो लपक लपक कर उन यहूद नसारा में घुसते हैं वो कहते हैं कि हम डरते हैं कि हम पर कोई मुसीबत का चक्कर ना आ पड़े तो करीब है कि अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमा दे या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर फरमा दे फिर उस वक्त ये लोग इस बात पर पछताने वाले हो जाएं जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखी थी